अब आगे चलते हैं मूलव्याध बवासीर और भगंदर ये तीनों एक ही तरह के रोग हैं फाइव एम और सल्फर थर्टी फाइव एम ये मूल व्याप बवासीर भगंदर तीनों की सबसे सरल औषधि है जिसमें साइड इफेक्ट नहीं और आप दे सकते हैं अपने से स्वयं औषधि तो और भी बहुत है हाँ देने का मैं बता रहा हूँ नक्सबंदी का जो है ये रोज शाम को एक फेम देना है जीप पर जवान पर शाम को भोजन के आधे घंटे के बाद जीवन के नंतर अब दूसरी जो औषध है सल्फर ये सप्ताह में एक दिन देना अठवाड़िया में एक दिन एक थे नेक्स्ट का अब आपको बीमारी कैसी है अगर ज्यादा खराब नहीं है तो 10-12 दिन में ठीक करेगा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो एक महीना लग जाएगा तो ये दे दिया भोजन के आधे घंटे बाद शाम को ये सकाड़ी और दोपहरी नहीं देना दोपहरी संध्या का सल्फर 200 ये भी पांच एम लेना है इसका एक एक टेम जीप पर सप्ताह में एक दिन और ये हाँ जबान पर नहीं ये सुबह खाली पेट देना एक से दोपहर को भोजन के आधा पौना घंटे बाद देना फिर रात को भोजन के बाद ये दिन में तीन बार देना एक दिन औषध लेने के आधा घंटे पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए ठीक है तो मैंने ये बोला कापुर और केला वो तो आयुर्वेद का है गोमूत्र के साथ लेना और ये होम्योपैथ का इससे लगभग नब्बे टका बवासीर मूड़िया बगंदर ठीक हो जाए दस टका इसलिए बोलता हूं कि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जिनको आठ साल से दस साल से है दो तीन बार ऑपरेशन करा चुके हैं फिर हो गया है तो उनका इलाज आप मत करना उनके बारे में मुझे या तो खत लिखना या तो आप कोई नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर को कहना कॉम्प्लिकेशन जिनको हो गया जैसे एक ऑपरेशन करा चुके हैं दो करा चुके हैं फिर मूल व्याध हो रहा है बार बार हो रहा है इसका माने वो टेंडेंसी बन गया है शरीर की उसको निकालने के लिए फिर ज्यादा गंभीर अध्ययन करना पड़ता है और उसके लिए औषध सिलेक्शन बहुत तकलीफ से होता है वो आप नहीं कर पाएंगे बहुत अभ्यास से ही होता है वो तो वो आप मत करना साधारण जिनको है पहली बार हुआ है ऑपरेशन नहीं कराया उनको आप ये देना एक तो पहले वो देना उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं कपूर केला और गोमूत्र कुछ ऐसे भी मूलवाद याद हैं जो कपूर केला गोमूत्र से भी ठीक नहीं होते उनके लिए फिर ये देना और जो इससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना हम्म दोनों दोनों से ही ठीक होगा एक से अकेले से ठीक नहीं होता और ये दोनों तरह के मूल व्याध के लिए एक रक्त वाला होता है एक बिना रक्त वाला दोनों मास ऐसा है कि हमारा जो मल निकलने वाला स्थान है वो एक पाइप के जैसा है तो ये पाइप में अगर थोड़ा बहुत सड़ना हो जाए तो कई बार वो बाहर निकल आता है तो ऐसा लोग बोलते हैं डॉक्टर उसको उतना काट देते हैं जितना बाहर निकलता है वो फिर और निकल आता है क्योंकि ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है ऑपरेशन में तो बाहर से काटते हैं लेकिन अंदर से निकलने की आदत बन जाती है उसकी तो उसको मूल से ठीक करना पड़ता है और इसका मूल जो है ना सबसे बड़ा है कोष्ठबद्धता जिनको कब्जियत होगी पेट साफ नहीं होगा उन्हीं को ये रोग आता है बाकी किसी को नहीं और जो बहुत मिर्ची खाते हैं उनको कोष्ठबद्धता होती ही है एक बार में जिनको संडा साफ नहीं होती बार बार जाना पड़ता है वो ध्यान रखें उनको ये होने की शक्यता है संडास एक बार नहीं साफ होनी चाहिए कड़क हाँ तो उनको भी शक्यता है कि ये होगा हम्म। उनके लिए उपाय में बताऊंगा जब कोष्ठबद्धता में हम जाएंगे तब बताऊंगा चलो आगे